भगवत गीता अष्टादश अध्याय तृतीय श्लोक के भाष्य तक कुछ विचार हुआ है आगे टीका बाकी है जिसमें अर्जुन ने प्रश्न किया था संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम संन्यास से महाबाहो तत्व में चांग वेदितुम त्याग से चक्र से जैसा पृथक के ऐसा था मैं सन्यास के बारे में जानना चाहता हूं सन्यास का क्या अर्थ होता है सन्यास माने क्या एक और त्याग माने क्या त्याग तो सन्यास और त्याग का जो पृथक पृथक भिन्न भिन्न मैं अर्थ समझना चाहता हूं ये दो प्रश्न है अर्जुन का सन्यास का अर्थ क्या होता है और त्याग का अर्थ क्या होता है ये प्रश्न है इसको लेकर के सन्यास और त्याग के बारे में जो कहा मुख्य संन्यास को नहीं आया यहां गौड़ संन्यास गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी काम्य कर्मों का त्याग देता हो काम्याम में आसम संन्यासम कर भी काम्य कर्म नहीं करता हो गृहस्थाश्रम है अभी और नित्य कर्म करता हो नित्य निमित्त कर्म करता हो फल ने फल को त्याग दिया हो ऐसे व्यक्ति है तो काम्यानम कर्मान्यासम संन्यासम कयोविध विधो विद्वान लोग ऐसा मानते हैं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी काम्य कर्म को त्याग देगा तो उसको संन्यास कहते हैं एक प्रकार का संन्यास है काम्य कर्म नहीं करेगा भविष्य उसका उज्जवल होगा नित्य कर्म कर रहा है नैमित्तिक कर रहा है उसे अंतकर्म की शुद्धि के माध्यम से आगे माने मोक्ष के साधन बन जाएगा उसका तो काम्य कर्म का त्याग देता हो काम्य कर्म ही बंधन का कारण है स्वर्ग नरक आदि में पहुंच जाने वाले काम्य कर्म ही होते हैं शरीर में जोड़ने वाले उसको त्यागता हूं उसको कहा सन्यास गृहस्थाश्रम में गृहस्थाश्रम को कहा जा रहा है गौर संन्यास है सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुष त्यागम बचकर सभी कर्मों को सब कर्म सभी करता है मैंने नित्य निमित्त कर्म कर रहा फल को त्याग देता है वहां काम कर्म तो स्वरूपत त्यागता है और नित्य निमित्त कर्म का फल त्याग देता है ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता हो इसको कहते हैं त्याग शब्द का अर्थ करते हैं बुद्धिमान लोग विचक्षणा बुद्धिमंत बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं मैंने गृहस्थाश्र में रहते हुए भी उसको एक प्रकार से त्यागी कहा जाता है सन्यासी कहा जाता है मुख्य नहीं है ये कहा आगे कहते हैं सांख्य मता मत अवलंबन करने वाले कुछ विद्वान बोलते हैं सारे के सारे कर्म त्याग देना चाहिए चाहे काम में हो चाहे नित्य नैमित्तिक कोई भी हो कर्म मात्र को त्याग देना चाहिए क्यों बंधन का कारण है दोष वाला है कर्म आगे स्वर्गीय नरक आदि जो शरीर दे रहा है वही काम करेंगे चाहे कोई भी कर्म हो तो त्याज्यम त्याज्यम दोषवती के कुछ लोग एक एक आखिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सारे कर्म त्याग देना चाहिए कोई भी नहीं नित्य निमित्त सब त्याग देना चाहिए तो दोष वाले हैं कर्म मनुष्य सारे के सारे कर्म दोष वाले हैं ऐसे बुद्धिमान लोग कुछ बुद्धिमान ऐसा कहते हैं कर्म त्याग और कर्म करना इसको विवाद है और मीमांसक पक्ष को लेकर के कुछ लोग बोलते हैं आश्रित होकर बोलते हैं दान तो बहुत कर्म न त्याग यज्ञ कर्म दान कर्म तप कर्म ये तो त्याग करना चाहिए क्यों अंधकार शुद्धि के साधन है ये यज्ञ दान तब कैसे निष्काम वाला कौन सा निष्काम वाला ये त्याग करना चाहिए ये गाना है इसी के भाष्य तो कुछ हुआ था ठीक से देखना था काम्यानि वर्जयित्व नित्य गानी फला विलासा धृते कर्तव्या उत्तम पूर्व श्लोक में कहा था काम्य कर्म को त्याग करके द्वितीय श्लोक में कहा था और नित्य नैवित्तिकानि फला विलासा धृते नित्य नैवित्तिक कर्म फल के अभिलाषा से रहित होकर करना चाहिए ये पूर्व में कहा चाहिए काम में कर्म बंधन के कारण ही त्याग देना चाहिए और नित्य नवित कर्म करना चाहिए तो आगे मोक्ष के लिए साधन बनते हैं पूर्व स्वरूप को कहा है फल की अभिलाषा न करके नित्य नवित कर्म करना इस पक्ष को प्रतिपक्ष निराश है इसका खंडन करेगा पूर्वादि बोलेगा नहीं सारे के सारे कर्म त्याग देना चाहिए यह शत्रु बनेगा कोई कर्म नहीं नित्य यज्ञदान तपादि भी नहीं करना चाहिए नित्य नवित कर्म भी नहीं चाहिए दोष वाले है ये जो शत्रु पक्ष है पूर्व पूर्ववातों के शत्रु बन रहा है उस तथ्य का खंडन के द्वारा दृढ़ तो वही पहले वाला पक्ष ही दृढ़ करना है क्या पक्ष दृढ़ करना है काम्य कर्म को त्याग देना है हाँ, और नित्य नैमित कर्म करना है फला फला विलासा रहित होकर करना है यही पक्ष को दृढ़ करना है मैंने थोड़ा निकलने अपने पक्ष दृढ़ करने के लिए अन्य अन्य पक्षों को रख देते हैं तो इस पक्ष का शत्रु बनता है कौन त्याज्यम बदित्य के कर्म प्राहुल मनुष्य ये पक्ष शत्रु बनता है सारे के सारे कर्म त्याग देना चाहिए किंतु उसका बाधक बनता है यज्ञदान तपा कर्म न त्याज अपने पक्ष पूर्व द्वितीय श्लोक में पुष्ट करता है यज्ञदान तपा कर्म न त्याज वही है एक ये विप्रत्पत्ति वहां झगड़ा दिखाते हैं यहां द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक में जो कहा था तृतीय श्लोक के पूर्वार्थ में उसका खंडन सारे के सारे कर्म दोष युक्त है इसलिए त्याग देना चाहिए बंधन के कारण है कोई कर्म नहीं तो उसके फिर प्रत्युत्तर देना है यज्ञदान तपा कर्म न त्याग विज्ञापन यही है ये कहा कर्मणा सर्वस्व बते तो वहां तो तृतीय श्लोक के पूर्वार्थ में जिसने कहा था सांख्य मत के माध्यम से कहा था कर्म सारे के सारे कर्म दोष वाले हैं दोष युक्त है बंधन के कारण है इसलिए कर्म मात्र छोड़ देना चाहिए यही है त्याज्यम दोषवधित्य के इसी का अर्थ है कर्मणा सर्वस्व दोषवत्य हेतु महा कर्म सबके सब दोष वाले हैं दोषवान हैं इसमें हेतु कहते हैं ये कौन बंध हेतुत्वाद बोल दिया बंधन के कारण है ना कर्म इसलिए त्याज्यम हम दोषवती सारे के सारे दोष वाले कर्म सब त्याग देना चाहिए ये कहते हैं लोग बंधन के कारण है इनका तर्क यही है ठीक है आपका दोषवत इत्यत दृष्टान्त है जैसे दोषवत कहा था त्याज्यम दोषवती दोषवत कहा कर्म को उसको दृष्टांत के द्वारा व्याख्या करते हैं जैसे दोष वाला कौन होता है दृष्टांत है त्याज्यम दोषवत इत्यादि इत्यादि बंद हेतु प्राप्त अथवा यथा राग आदि दृष्टांत दिया जैसे राग द्वेष आदि द्वेष होते हैं ना दोष होते हैं राग द्वेष इसी प्रकार ये भी क्या दोष वाले कर्म ठीक तो है दोषवती अथवा अथवा के द्वारा कहा इसकी व्याख्या कर दिया दृष्टांत के द्वारा यथा राग आदि त्यज्य थे जैसे राग दोष आदि को त्यागा जाता है तथा त्याज्यम इति उस प्रकार सारे कर्म त्याज्य हैं इति एक प्राहुर मनुष्य कुछ मनुष्य लोग ऐसा करते हैं कहा मनुष्य मान पंडित कैसे पंडित है ये सांख्यादि दृष्टि में आश्रित जैसे सांख्य काफिल सांख्यादि की दृष्टि पर आश्रित हुए पंडित लोग ऐसा बोलते हैं सारे कर्म त्याग देना चाहिए सांख्य मतावलंबी जो होंगे पंडित लोग ऐसा मानते हैं ये कहा ठीक है कहते हैं कर्मणि अनधिकृता नाम अकर्मिणाम में कर्म त्याज्यम कर्मणाम तत्याग प्रतिभा देखो मीमांसक पक्ष आकर के बोलते आओ कर्मी जो होंगे अधिकारी होंगे कर्म करने का अधिकारी होंगे जो काड़ा नहीं है कुब्जा नहीं है लंगड़ा नहीं है ऐसा अधिकारी होंगे कर्म करने का अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने का अधिकारी हो काणा कुब्जा लंगा बहर बहरा इत्यादि न हो तो कर्मणि अनधिकृत आराम जो अधिकारी नहीं है काणे कुब्जा आदि है उनको यज्ञादि कर्म करने का अधिकार नहीं होता क्यों अंधा व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता घृत छाया देखनी होते है पत्नी के साथ हो यज्ञ भूमि में वह अंधा व्यक्ति देख नहीं पाएगा इसलिए उसका अधिकार नहीं है लंगड़ा व्यक्ति कर नहीं सकता क्यों नहीं करता एक मंडप में प्रदक्षिणा करनी होती प्रदक्षिणा कर नहीं सकता बहरा व्यक्ति जो होगा इत्यादि करो क्यों जो ब्राह्मण बोलेगा मंत्र सुनना होगा सुन नहीं सकता ये कर्म में अनधिकारी होते हैं लोग शास्त्रीय कर्म में यही अमीमांसक पक्ष आकर के बोल रहा है ये बात अब कर्म नहीं अनधिकृत आराम जो कर्म में अधिकारी नहीं है जो अंधा है लंगड़ा है पंगू है बधीर है ऐसे है अकर्मिणाम एवं अकर्मी होते हैं कैसे होते हैं अकर्मी कर्म नहीं हो पाए उसे अकर्मिणाम एवं त्याज्यम कर्म उनको त्याग त्यागना चाहिए कर्म किनको द्वारा त्यागना चाहिए जो अकर्मी लोग हैं कर्म का अधिकार नहीं जिनको वो त्याग त्याज्यम कर्मिणाम त्याग जो कर्म में कर, कर्म कर सकते हैं अधिकारी है कर्म करने के तत्यागे मैंने कर्म त्यागे कर्म का त्याग कर प्रतिभा पाप लगेगा उनको तो कर्म में अधिकारी नहीं वो कर्म त्याग वो कर्म त्यागने को उनको कहा यहाँ काम्य आनंद कर्माने ऐसे किसको काम्य कर्म को त्यागने से कर्म त्याग त्याज्य वो दोष तय करके किसको कहा जो कर्म ही नहीं है जो उनके लिए कहा हुआ ये सांख्य मतावलंबी ऐसा बोलते हैं जो कर्म में अधिकारी नहीं है अंधा है अंधा है पंगु है बधिर है ऐसे है उनके लिए कर्म त्यागने को रहा जो अधिकारी है उनके लिए नहीं है उनको तो कर्म करना चाहिए ऐसा अन्य लोग बोलते हैं मैंने मीमांसा को लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं दो पक्ष बना करके जो कर्म अधिकारी नहीं उनको त्यागने को कहा त्याज्यम है तो त्याग उसके लिए है और एक तब कर्म अत्याजमति आपर के लिए कर्मी हो गए कर्म का अधिकारी है जिनको ऐसा मीमांसक बोलना चाह रहे ये कहना है ऐसा शंका करे मीमांसा की ओर से शंका करे तो सांख्य आकर बोलता अधिकृता नाम अभी कर्म नाम जो अनधिकारी को तो कर्म त्यागने को कहा ही है किंतु तो अधिकारी जो होंगे कर्म करने के अधिकारी होंगे उनके लिए भी कर्म त्याग देना चाहिए दोष वाले हैं क्यों त्यागना चाहिए दोष मत कहा होगा दोष वाले हैं जैसे राग आदि द्वेष होते हैं त्यागने योग्य होते हैं इसमें कर्म भी त्यागने योग्य है ये उत्तर दिया उन्होंने ठीक है नहीं तेसा मैंने कर्मिणाम भी वो जो कर्मी लोग है ना कर्म में अधिकारी है जो शास्त्रीय कर्म करने का अधिकारी है जो अंधा नहीं है पंगु नहीं है बधिर रही इत्यादि है ऐसे है उनका भी तैसा तो हमें भी कर्म त्यजता हम प्रतिभा न प्रतिभा है उनके भी कर्म त्याग पर प्रतिभा नहीं लगता उनको क्यों हिंसादि युक्त से कर्मो अनुष्ठान है अनुष्ठान है परम प्रतिभा कर्म जो होता है हिंसादि सहित होता है बिना हिंसा आदि के कोई कर्म नहीं हो सकता कर्म करते समय में कोई ना कोई हिंसा होगी तो हिंसादि युक्त से कर्म हिंसादि से युक्त होता है कर्म उस कर्म का अनुष्ठान परम अनुष्ठान करेंगे हिंसादि युक्त होने से और ज्यादा प्रतिभा लग जाएगा ये सांख्य लोग बात है अधिक प्रतिभा होगा क्यों हिंसादि युक्त है कर्म वो करने से प्रतिभा ज्यादा होगा पाप ज्यादा लगेगा इसलिए त्याज्य हम दोषों का त्याग ऐसे मानते सारे के सारे कर्म त्याग देना चाहिए चाहे मैं सकाम हो चाहे निष्काम तो हो सारे कर्म त्याग देना चाहिए सांख्य मत को आश्रय लेकर कहा सांख्यादि पक्ष समाप्त हो इति शब्द भाष्य में कर्मणाम अपनी इति दिया इति शब्द किसे सांख्यादि जो सारे कर्म को दोष मार करके त्यागना बोलते हैं उनके सिद्धांत समाप्ति के लिए इति लगा दिया इस प्रकार बोलते हैं कहा आगे टीका में है मीमांसक पक्ष में मीमांसक बोलते हैं क्या नहीं नहीं यज्ञ दान तब तो करना चाहिए तीन कर्म तो करना चाहिए बाकी कर्म त्याग ये तीन कर्म तो करना चाहिए ऐसा मानते हैं ये कहा मीमांसक पक्ष महा तत्रैव इत्यादि कहा तत्रैव उसी विषय में कर्माधिकृत कर्म के अधिकारियों के लेकर फिर ये मीमांसक बोलते हैं कर्म के अधिकारी होंगे उनके लेकर बोलते हैं कहा तत्र यज्ञ दान तो कर्म न त्याज्य विदिजा परे यज्ञ दान तप रूपी कर्म त्यागना नहीं चाहिए अपरे मीमांसा कहा मीमांस को ऐसा कहते हैं सांख्य वालों ने कहा सारे कर्म त्याग देना चाहिए सभी पंडित है विवेचना करने युक्त है और मीमांसक बोलते हैं त्यागना चाहिए क्या करना चाहिए यज्ञ दान तप रूपी कर्म त्यागना नहीं चाहिए करना चाहिए ये मीमांसक कहते हैं कहा हुआ है कर्मण एवं अधिकृता जो कर्म में अधिकारी है ना उनको ये तीन को नहीं त्यागना चाहिए जो कर्म में अधिकारी है कर्म करने के लिए शास्त्रीय अधिकार है जिनको ये तीन चीज त्यागना नहीं चाहिए कौन एक एक ये मीमांसक कहते हैं कर्मिणा एवं जो कर्मी है कर्म करने के अधिकारी है जो वही एवं अधिकृता जो अधिकारी है तार अपेक्षा है विकल्प उनको लेकर के कर्मियों का ये विकल्प है जो कर्म करने के अधिकारी है उनको कौन कर्म करना कौन नहीं करना सारा त्याग रह के कुछ करना ये विचार विकल्प जो दिया है यहाँ काम्यानम कर्मान्यासम संन्यासम कविधो सर्वकर्म फल त्याग प्राहुष त्याग विचक्षणा इत्यादि जो कहा था और त्याग जब ये दो श्लोक में जो कहा हुआ विकल्प है ना सारे जो पक्ष चित्त हुए कर्मिणा एवं अधिकृत जो कर्मी है अधिकारी है कर्म करने का अधिकार उनको लेकर के विचार किया सन्यासी जो होगा कर्म का अधिकारी है ही नहीं उसको लेकर के विचार नहीं है कर्म के बारे में माने उनकी प्रशंसा के लिए यदि काम्य कर्म छोड़ देते हो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते और नित्य नैमित्य कर्म फल के आशा छोड़कर कर रहे हो सन्यासी भविष्य में सन्यास भी जाने वाले हैं अंतर्गत शुद्धि के बाद से मोक्ष के मार्ग में जाने वाला है तो यह सांख्य प्राप्त स्थान हम तद्योगी अभिगम्य है जो सांख्य वाले संन्यास ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए लोग जो स्थान प्राप्त होगा वही लोग तद योग ही कर्मयोगी के द्वारा वो प्राप्त परंपरा से प्राप्त होगा ऐसा आया होगा कर्मण अधिकृत तान अपेक्षा ये थे विकल्पा उन्हीं कर्मियों को लेकर के कर्मयोगी को लेकर ही कर्म में अधिकारी है उनको लेकर के विकल्प है यहाँ माने काम्यानम न्यासम संन्यासम लेकर के हम्म, दोषवती त्यक इत्यादि कहा त्याज्यम दोषवती त्यक कर्प ये दो श्लोक में जो कहा उन्हीं को लेकर के है यानी गृहस्थाश्रम में आश्रम में रह रहा है गृहस्थाश्रम में है वो इस तरह से करके कहा न तो ज्ञान निष्ठा व्युत्था ही ना कहते हैं सन्यासी का पक्ष ज्ञान निष्ठा के द्वारा जो व्युत्थान हो गया ऊपर हो गए जो हम ब्रह्मास्म भाव में पहुंचे हुए हैं ज्ञान स्थिति है जैसे कर्मकांड से व्युत्थान है ऊपर की स्थिति देहाभिमान से ऊपर की स्थिति में अभी देहाभिमान को लेकर के कर्म करना के लिए करना विचार हो रहा है क्या करना क्या नहीं करना जो देहाभिमान से ऊपर है उनके लिए कर्तव्य है नहीं न तो ज्ञान निष्ठा व्युत्थाई ना जो ज्ञान निष्ठा के माध्यम से यहां से उठ चुके हैं कर्मनिष्ठा से ऊपर पहुंच चुके हैं लोग उनके लिए सन्यासी सन्यासी ऐसा सन्यासी मुख्य सन्यासी उनको अपेक्षा करके या विचार नहीं है विकल्प नहीं है ये समझना ये तो गृहस्थाश्रम में अभी कर्म के अधिकारी हैं उनको कौन कर्म करना चाहिए कौन नहीं करना चाहिए या सारे नहीं करना या सारा करना या कुछ करना कुछ नहीं करना ये विकल्प किनके लिए गृहस्थाश्रम है जो इनके लिए कहा ज्ञान योगे न नाम निष्ठा मया पूरा प्रोता क्योंकि दो प्रकार की निष्ठा पहले तृतीय अध्याय भगवान बताया मैंने कहा करके भगवान कहते हैं मैंने पहले कहा दो भूत सर्गो लोकेश दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया सृष्टि के आदि में अथवा द्वितीय अध्याय में दो प्रकार की निष्ठा कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा पूरा प्रोक्ता ज्ञान योगे न सांख्या नाम जो ज्ञानियों के लिए ज्ञानियों के माध्यम से सन्यासी का है और कर्वे के द्वारा कर्म का मार्ग है दो मार्ग मैंने बताइए ऐसा कहा हुआ है ज्ञान योग सांख्यान नाम निष्ठा माया पूरा ज्ञान योग के द्वारा ही सांख्यों की निष्ठा बताई कर्मयोग नहीं बताया वहां इति कर्माधिकारात अपुद्रता कर्माधिकार से पृथक करके कहा भगवान ने वहां तो कर्मयोग योगी नाम अलग मार्ग है उनके लिए ये नतान प्रति चिंता उन उनके लिए नहीं जो ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए यह चिंता नहीं है ये जो विकल्प उनके लिए नहीं है कौन कर्म त्यागना कौन करना अथवा सारे त्यागना या कुछ करना ये चार विकल्प यहां हैं ये उनके लिए नहीं ये चिंता नहीं है आगे पूर्व पक्ष बोलता है नानो कर्म योगी योगी नाम कहा साथ साथ वह ज्ञान वगैरह सांख्याना भी तो है ना यहां जो विचार हो रहा है कर्मयोग योगी नाम में पहले जो कर्म का विचार हो चुका था कर्मयोग शब्द या तृतीय अध्यय उसका बने गीता शास्त्र उपसंगार की अवस्था फिर कहा यहां विचार किया गया कर्मयोग का उस पर ज्ञान निष्ठा वाले के भी मानी विचार होना चाहिए जो सन्यासी होगा वास्तव मुख्य सन्यासी वो भी काम कर्म छोड़ता कि छोड़ सकता कि नहीं छोड़ सकता हाँ और नित्य निमित्त कर्म फल का अभाव करके कर, कर सकता ही नहीं कर सकता अथवा सारे कर्म त्याग देता वो भी अथवा यज्ञ दान तब को करता है ये विकल्प उसके लिए भी लगना चाहिए क्योंकि जब सूर्य में दो बातें बता के आए एक का उपसंहार काल में दोबारा कथन कर रहे हैं किस कर्म के बारे में तो ज्ञान योग का भी चर्चा करनी चाहिए उसके लिए भी लागू होनी चाहिए कानून ये कहना है पूर्वाधिक बोलता है नोनो नो योगिना अधिकृता जो अधिकारी थे उनके लिए कहा कर्म में अधिकारी योग्य लेकर कहा है पूर्वाध्याय पूर्वम विभक्त निष्ठा भी पहले विभाग किया हुआ निष्ठा दो निष्ठा विभाग किया था तृतीय अध्याय में ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अभी वो विभक्त निष्ठा है कर्म निष्ठा पहले एक बार पृथक कर दिया भगवान तृतीय अध्याय में उसका भी यह सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरण गीता शास्त्र संपूर्ण गीता शास्त्र उपसंहार के प्रकरण में यहां पर यथा विचारी जैसे कर्मशा के बारे में विचार किया जाता है दोबारा तथा उसी प्रकार सांख्य ज्ञान योग्य ने बोला हुआ है वहां तो वो भी कहा हो यहां भी संपूर्ण गीता शास्त्र का उपसंहार करना है अर्थ उपसंहार करना उसका भी यहां कहना चाहिए ना उनके लिए कर्म लागू है कि नहीं है ये यहाँ कहा दो श्लोक में कहा हुआ बात कहे हुए बातें हैं उन ज्ञान निष्ठा में रहने वाले के हाई गए विचार करना चाहिए ये पूर्वाधिक कहता था सांख्या अपनी ज्ञान निष्ठा विचार्यता जो ज्ञान निष्ठा वाले सांख्य लोग हैं मुख्य सन्यासी लोग हैं उनका भी यहाँ विचार किया जाए विचार्यता विचार कीजिए यहाँ जैसे कर्मनिष्ठा वाले के एक बार कहने पर दोबारा विचार हो रहा है यहाँ कौन अधिकारी है कौन नहीं है इत्यादि क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य है इत्यादि तो ज्ञान निष्ठा वाले जो चर्चा होनी चाहिए उनके लिए कर्म है कि नहीं ये कर्म यहां तो सारे गीता का उपसंहार होने जा रहा है उनके बारे में क्या विचार है उनका भी विचार कीजिए ऐसा पूर्वादी ने कहा तो सिद्धांत का नाम तेसाम ज्ञान निष्ठाराम जो ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए हैं ना जो लोग तेसाम वो दुख निमित्त त्याग अनुपत्य कहते हैं देखो अविवेक के कारण से अपना कर्तव्य त्याग देता मोह मोह के कारण त्याग हो सकता कर्मता मोह के कारण अथवा काय क्लेश भया तेज देता आगे का कर्म के बारे में शरीर को कष्ट होगा कर्म करने से मार करके त्याग देता हो वो राजस त्याग होता है और अविवेक से त्याग तो तामस त्याग होता है माने कर्म त्यागने के दो ही कारण है क्यों त्यागना चाहता है व्यक्ति या तो मोह के कारण अविवेक के कारण या शरीर को कष्ट होगा कर तो तामस्याग्रास्या के बारे में है आगे कर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो त्याग अनुपत्य वो निमित्तक त्याग इसमें हो नहीं सकता क्यों वो उसमें अविवेक नहीं है कि मुख्य सन्यासी में किसमें ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए लोगों का अविवेक नहीं ज्ञान अज्ञान नहीं है शरीर संबंधी कोई मोह भी नहीं उनका काय क्लेश भय भी नहीं वो शरीर में होते ही नहीं शरीर से पृथक होते हैं वो जो शरीर में रहेगा उसी को शरीर का भय उसको होगा उनको है ही नहीं इसलिए इनको हो नहीं सकता ये कर्म त्यागने का प्रसंग ही नहीं वहां आता ही नहीं तो क्यों नहीं समझाना उनका ये कहा न काय क्लेश निमित्तानी दुखानी सांख्या आत्मनिपति कहा जैसे शरीर में होने वाले जो कष्ट है उसको उस निमित्त तक दुख जो आते हैं कष्ट शरीर में क्लेश होता है तो दुख होता है सांख्या आत्मा न पश्यंती सांख्य लोग जो आत्मव्यता हो चुके हैं सन्यासी है मुख्य वो आप, आत्मा में देखते नहीं वो शरीर आदि के कष्टों को दुख आदि को क्यों इच्छा आदि नाम क्षेत्र धर्मत्व में दर्शन आदि जितने भी है ना शोक दुख मुख जितने भी है क्षेत्र धर्म शरीर का धर्म रूप से दिखाया प्रकृति का धर्म त्रयोदश अध्याय में दिखा दिया है इच्छा आदि सुखम दुखम संगात है क्षेत्रादेश आदि में दिखाया हुआ है यह सब क्षेत्र का धर्म है ऐसे बताया सुख दुख आदि क्षेत्र के धर्म है अंतकर्म के धर्म है वो आत्मधर्म नहीं मानते वो लोग इसलिए वहां पर काय क्लेश आदि निमित्त से कर्म त्याग का संभव ही नहीं है कर्म है ही नहीं उनमें अतस्ते इसलिए जो ज्ञानी है सांख्य में बैठे हुए हैं मुख्य सन्यासी हैं थे न काय क्लेश दुख भयात कर्म परिदेश इसलिए शरीर के क्लेश से होने वाला जो भय है उसके उसके निमित्त से कर्म का त्याग नहीं कर सकते वो न परित्यज कर्म त्याग दे कर्म है ही ना उनमें हाँ, कर्म वही त्याग सकता है कौन शरीर के कष्ट से दुखी हो वो वो त्याग सकता है वो उनमें नहीं है नापिते कर्माणी आत्मनिपसंदी अथवा अपने वो कर्म को देखते भी नहीं मेरा कर्म है समझते भी नहीं वो तो किस बात देख रहे हैं शरीर का कर्म देख रहे हो नापिते माने ज्ञान निष्ठा में अधिकारी है जो कर्माणी आत्मने न पश्यंती कर्म आत्मा में नहीं देखते एक नियतम कर्म बहुत पड़ते जो नियत कर्म है माने नित्य कर्म है उसको अज्ञान के द्वारा त्यागे वो संभव भी नहीं है त्यागना संभव भी उनके बारे में चर्चा ही नहीं कहा क्यों गुणानाम कर्म वो समझते हैं गुणों का कर्म है क्या समझते हैं प्रकृति त्रिगुण और सुपर है सदगुण रजगुण तमगुण उनका कर्म है सारे कर्म जो होते हैं गुणों में होते हैं मेरे में नहीं है ऐसा मानते हैं तो और दूसरे का कर्म दूसरा कैसे त्यागेगा वो गुणों से पृथक अवस्था में है और ये गुणों का कर्म देख रहे हैं ये गुण में कर्म हो रहे हैं सतगुण का कर्म भजन आदि हो रहा हो तो सतगुण का कर्म हो रहा है विषय आदि की इच्छा माने ग्रहण करने की इच्छा हो रही तो रजुगुणी कर्म हो रहा है वहां और निद्रा आलस्य आदि तमुगुण का कर्म हो रहा है दूसरे का कर्म दूसरे कैसे अपनाएंगे उनके पास है ही नहीं कर्म क्या त्यागेंगे या तो त्याग के विषय में कर्म को त्यागने का विषय चल रहा है वो कैसे त्यागेंगे है ही नहीं उनके पास कर्म ठीक है उनकी स्थिति कैसी होती है नैव किंचित करो मिति युक्तो बने तत्व जो कहा जो कुछ भी हो रहा है गुणों का कर्म है इंद्रिया इंद्रिया बर्तन धारण आता है इंद्रिय इंद्रिय के विषय में रह रहा है हाँ, मैं कुछ भी नहीं करता इस बात में हो तो अन्य व्यक्ति अन्य में रह रहे हैं तो मेरे क्या लेना है शरीर से ऊपर की स्थिति को होते हैं वो मुख्य सन्यासी जो होते हैं ज्ञानी होते हैं जिनको ज्ञानिष्ठ रहने वाले वहां कर्म की चर्चा ही चाहिए तो क्या त्यागेगा वहां जहां कर्म की संभावना हो त्यागना रखना वहां होता है कहा संभावना है गृहस्थाश्रम है अज्ञानी है शरीर आदि के कष्ट आदि से अपना कष्ट समझता है अभी तादात्म है वहां पर कर्म है तो उस कर्म का त्यागना संभव है शरीर आदि में आत्मबुद्धि जिनका है ही नहीं कहा कर्म ही नहीं तो कर्म कैसे त्यागेगा कर्म शरीर से होता है इत्यादि कहा नैव कर्म देते न संजय संधि कहा वो तो वो त्याग देते हैं कर्म को हाँ, माने गुणों का कर्म गुण में हो रहा है गुणों में कर्म है समझते हैं मैं तो कुछ करने वाला नहीं करके संजय संधि हो तो संन्यास करके बैठे हैं पहले से कैसे संन्यास करते हैं सर्वद्वार सर्वकर्माणी मनसा संन्यास्ते सुखम बसी नवद्वारे पूरे देही नैव कर्म नैव गुरुवर्ण कारण पंचवत्या बोल के आए सारे के सारे कर्म जितने भी कायिक वाचिक मानसिक जितने भी कर्म है सर्वकर्माणी मनसा मन से त्याग देते हैं किस शरीर से त्यागना नहीं अज्ञानी शरीर से त्यागना ग्रहण करना शरीर से करता किसे करेगा कर्म का त्याग ग्रहण उनका शरीर से होता है किंतु वो मन से ही करते हैं सर्वकर्माण मनसा संन्यास्य आस्ते सुखम बसी सुख पर वो रहता है वो आत्मा कहां रहता है जब द्वारे पूरे रहता है यही अभी जीवन मुक्ति अवस्था में हो गए पृथक नहीं हुआ है नवद्वारे पूरे देही देही आत्मा न वो पूर्व न कार्य नास्ते न करता है न कराता है इस तरह से रहता है पंचम अध्याय बोल गया है इत्यादि भी रही इत्यादि के द्वारा तत्वविदा संन्यास प्रकार हो तत्वविद्ता को तो संन्यास बताया किस प्रकार नैव किसी करोपित इत्यादि के द्वारा सर्वकर्म अनुसार संन्यास इत्यादि के द्वारा संन्यास बताया है वह कर्म की प्राप्ति नहीं तो क्या त्याग करेगा वो जहां प्राप्ति संभव हो त्याग की कहां संभव है अज्ञानी है अभी किंतु काम कर्म को त्याग देता है और नित्य नैमित्य कर्म कर रहा है तो त्याग और संन्यास का भी परिभाषा है और सांख्य मत के द्वारा आकर के बोला कि नहीं सारे कर्म त्याग देना चाहिए मीमांस का त्याग बोल रहे हैं पूर्व पक्ष को सिद्ध करने के लिए कहा यज्ञ वेदांत तप करना चाहिए अन्य कर्म त्याग देना चाहिए ठीक है इत्यादि बातें हैं कहा ठीक है कर्माधिकृत यादव है ना वो करता कर्म में अधिकारियों के लिए चर्चा है जो कर्म में अधिकार प्राप्त था उन्हीं के लिए चर्चा है यह हाँ। जिनका कर्म में अधिकारी नहीं है उनके लिए चर्चा नहीं है जो सन्यासी कर्म के अधिकारी नहीं जो कर्म के साधन उन्होंने उतार दिया है शिखा आदि छेदन करके बैठे हैं उनके लिए नहीं कर्म में क्या नित्यम नैवित्तिकम च कर्म में अधिकार नित्य नैवित्तिक कर्म में अधिकार उनका नहीं है यज्ञदान तपादि कर्म अधिकार ने कहा काम्यानम कर्माद्य आरभ्य काम्यानम कर्मान्यासम संन्यासम कभी विदु सर्वकर्म फल त्याग प्राहु त्यागम विचक्षण यहां से लेकर द्वितीय श्लोक तक काम्यानम कर्मान्यासम से लेकर के त्याज्यम दोष ते के हाँ, तो प्राहुर मनीष यज्ञदान तपा कर्म न त्याग यहां तक ये दो श्लोक में जो कहा काम्यानम कर्मा के आरभ्य श्लोकाभ्याम दो श्लोकों के द्वारा कर्मिणो अकर्मिणो अधिकृतान अनधिकृतान से अपेक्षा माने कर्मी और अकर्मी दो को लेकर के और अधिकारी और अनधिकारी दो को लेकर विचार हुआ है कौन अधिकारी है कौन कर्मी है कौन अकर्मी है यदि ज्ञान निष्ठा में बैठा है तो वो अकर्मी है और कर्मनिष्ठा में बैठा है अभी शरीर आदि माध्यम से है तो कर्मनिष्ठा वाले हैं वो कर्म में अधिकारी हो अधिकारी अनधिकारी दो को लेकर और अधिकटानम अधिक्रांत जो अधिकारी युक्त है जिनमें है जिनमें अनधिकारी हैं इनको अपेक्षा दर्शित विकल्प आराम ये विकल्प दिखाया हुआ है कौन कर्म करता है कौन नहीं करता है इत्यादि विकल्प आराम प्रवृत्ति इतिहास <clears throat> माने सभी के लिए प्रवृत्ति होगी पूर्वाजी बोलता है सबका कार्य लागू होगा ये कर्मी हो चाहे अकर्मी हो चाहे कर्म का अधिकारी हो चाहे अनधिकारी हो दोनों के लिए मैंने सन्यासी को भी करना होगा नित्य कर्म करना होगा काम कर्म छोड़ना होगा और गृहस्थों को भी काम कर्म छोड़ना होगा ये सिद्ध होगा नित्य कर्म करना होगा तो दोनों के लिए आए पूर्वादी यह संभव उठाता है कर्मिणा इत्यादि पूर्वादि कहा था कर्मण एवं अधिकृताता ने बक्ष विकल्प तो सिद्धांत बोल रहे हैं कर्मी को लेकर ये विकल्प है सारे के सारे ज्ञान निष्ठा वाले के नहीं नहीं सन्यास की अपेक्षा करके नहीं कहा क्यों ज्ञान आगे तो पूर्व पक्ष आएगा ज्ञान ज्ञान योग्य ना सांख्यानम निष्ठा मया पूरा पूरा ज्ञान योग के द्वारा तो मैंने पहले बोल दिया भगवान कहते हैं कर्माधिकारात उपस्थिता कर्म के अधिकार से पहले ही द्वितीय अध्याय में बोल दिया मैंने सारी बातें इसलिए उनके लिए चिंता नहीं यहां ठीक है वो कहते कर्मिणा एवं व्यवकार लगा हुआ वास्तव में कर्मिणा एवं कहा जो कर्म करने के अधिकारी हैं उन्हीं में कहा तो कहते एवकार के द्वारा पृथक क्या किया जाता है न तो करके कहा न तो ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठा भी उत्था ना ज्ञान निष्ठा के द्वारा ऊपर उठ चुके हैं जो लोग शरीर आदि से ऊपर हो चुके हैं सन्यासी न पुरुष उनके अपेक्षा करें क्या नहीं कहा ये दोनों श्लोक उनके लिए नहीं है ये कहा हुआ तदेव स्फुट ज्ञान निष्ठा वाले के स्पष्टीकरण ज्ञान इत्यादि कहा था ज्ञान योग्य सांख्या नाम निष्ठा मया पूरा प्रोक्ता का ज्ञान निष्ठा के द्वारा मेरे सांख्यों के लिए तो पहले मैंने निष्ठा बता दिया है उनमें तो उसमें रहना है कर्म में नहीं कर्माधिकारा अपद्रता कर्माधिकार से पृथक करके कहा है ये काम प्रति न चिंता जो ऐसे लोग हैं कर्म से जिनको पृथक कर दिया है उनके बारे में चिंता नहीं है दोष लोगों की चिंता वहां नहीं है कर्म कौन करे कौन नहीं करे कैसा करे कैसा न करे ये बातें उनके लिए नहीं है ये कहा कर्माधिकृता नाम ज्ञान निष्ठा तो विभक्त निष्ठावत्व कर्माधिकारियों को ज्ञान निष्ठा से पृथक बताया तृतीय अध्याय के शुरू में पृथक बताया हुआ है निष्ठावान होने से पूर्वोक्त आराम से शास्त्रार्थ प्रसंगारे तो पहले कहा हुआ था कर्माधिकारी का ज्ञानाधिकारी भी बोला कर्माधिकारी को कहा विषय बोला तृतीय अध्याय में तो पहले जो कहे हुए कर्माधिकारी को भी कहा ही था वहां उनका फिर शास्त्रार्थ उपसंहार गीता शास्त्र के उपसंहार समाप्ति के प्रकरण में पुनर्विचारी अथवा जैसे यहां पुनर्विचार हो रहा है यहां कर्माधिकारी के बारे में ये दो श्लोकों से विचार हो रहा है कौन कर्म करना कौन नहीं करना कौन करे कौन न करे कर्म के अधिकारी कौन है कौन नहीं है विचार है यहां तो जैसे विचार होता है उस प्रकार ज्ञान निष्ठा रहा जो ज्ञान में निष्ठा रख रहे हैं सन्या, मुख्य सन्यासी हैं उनके लिए विचारियम अथवा उनका भी विचार होना चाहिए माने ज्ञान निष्ठा उनका शरीर भाव से ऊपर है फिर भी काम्य कर्म को उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नित्य निमित्त कर्म फल सहित करना चाहिए फल रहित होकर करना चाहिए अथवा सारे कर्म उनको त्याग देना चाहिए अथवा यज्ञ दान तप करना चाहिए चार विकल्प है यहाँ तो उनके लिए भी लागू होगा जैसे कर्मियों के लिए विचार किया जा रहा है ज्ञानी के भी लागू होगा ये शंका है पूर्वाधिक ननु इत्यादि कहा ननु कर्मयोगे नाम कहा हुआ है वहीं जहां ज्ञान योगे ने सांख्यान कहा था वहीं पर कर्मयोगे नाम बोला हुआ है जब कर्मयोगी के द्वारा विचार करना है दोष लोगों के द्वारा यहां तो ज्ञान योगी का भी करना चाहिए सांख्यों का भी करना चाहिए विचार उनके लिए भी कर्मों के विषय में चर्चा करना चाहिए काम्य कर्म करना कि नहीं करना नित्य निमित्त कर्म फल सहित करना कि फल रहित करना अथवा सारे कर्म त्याग देना दोष वाला बांध करके अथवा एक दान तब को करना ये विचार उनके लिए भी होना चाहिए ये पूर्वायुति अधिकृता मानी ज्ञान कर्मयोग पूर्व तथा उसी प्रकार सांख्या भी ज्ञान निष्ठा विचरणता कहते हैं सांख्य जो ज्ञान निष्ठा में बैठे उनके बारे में विचार कीजिए ना दो श्लोक के गुजारा उनके लिए कर्म कर्तव्य है या नहीं कर्तव्य है तो कौन सा कर्म कर्तव्य है कौन अकर्तव्य है सब विचार उनके लिए भी होना चाहिए जो पूर्वाज ने कहा टीका में कहते हैं सांख्या नाम परमार्थ ज्ञान निष्ठा सांख्य मान क्या वास्तविक जो ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए हैं हम ब्रह्माष्टम भाव पे पहुंचे हैं शरीर भाव से ऊपर है स्थिति उनको यह सांख्य करके कहा हुआ है नाम परमार्थ का वास्तविक ज्ञान निष्ठा में बैठे हैं न अत्र विचार था उतर सिद्धांत बोलते हैं उनके विचार यहां नहीं होता शास्त्रार्थ के उपसंहार के समय में कर्मनिष्ठा वालों का तो विचार होना है कौन सा कर्म करना कौन नहीं करना या सारे नहीं करना या कुछ कर्म करना उनका विचार होगा क्योंकि तो ज्ञान निष्ठा वालों का विचार नहीं है गीता शास्त्र के उपसंहार प्रकरण अष्टादश अध्याय है उसमें विचार नहीं होता ज्ञान निष्ठा वालों का ये उत्तर देते सिद्धांत न तेषाम इत्यादि कहा न तेषाम इत्यादि सिद्धांत बोलते हैं न तेषाम मोह दुख निमित्त त्याग अनुपत्ति देखो कर्म त्यागने का दो ही कारण होता है या तो अविवेक के कारण मोह के कारण या क्या होता है दुख निमित्त त्याग होता है शरीर को कष्ट होगा स्नान करना ये करना वो करना कर्म करना शरीर को कष्ट होगा तो तो वो त्याग इसलिए कर्म नहीं करेगा व्यक्ति ये दो संभावना है किंतु वहां हो नहीं सकता मोह भी नहीं अभिवेक नहीं है उनमें किन में सांख्यों में यहां और कर्म मैं इसमें भी नहीं है कष्ट शरीर का कष्ट अपने को नहीं मानता वो अपना अपने पृथक कर चुका है वो ये कहना है ननु तेसाम अपनी स्वात्मनि क्लेश आदि पसरा ठीक है शारीरिक दुख तो उनमें नहीं है शरीर से अपने को पृथक किया है फिर भी आत्मा में क्लेश दुख दिखता है कष्ट दिखता है ननु तेसाम अपनी स्वात्मनि अपने स्वरूप में क्लेश दुख आदि पश्चाम अपने स्वरूप में देखता हो मैं दुखी हो करके समझता हो तत् अनुरोध है ना उस दुखादि के अनुरोध के द्वारा राजस्व कर्म त्याग सिद्ध जो माने रजोगुणी कर्म का त्यागना संभव है दुख वित्ते वेद कर्म काहे क्लेश भया तेज सकृत राज नहीं बताया भोला भोल आने वाला है कर्म के तीन प्रकार के कर्म की चर्चा में आने वाला है दुख मान करके कर्म करना दुख है ऐसा मान करके शरीर को कष्ट होगा समझ करके अथवा मुझे दुख होगा ऐसा समझ करके कर्म त्याग देता हो और आज त्याग का फल नहीं मिलेगा उसको बोला हुआ है तद राज कर्म त्याग से देर विचार या तुम उनके लिए विचार होना चाहिए पूर्वादी बोलेगा कहते ना सिद्धांत न इत्याग का न काय इत्यादि कहा था न काय के लिए सिद्धांत दुखानी सांख्या आत्मनि पश्यंती कहा जो शरीर संबंधी जो क्लेश आदि है पंच क्लेश हो चाहे दुख आदि हो वो सांख्य लोग अपने में नहीं देखते ज्ञानी अपने में नहीं देखते इच्छा आदि नाम क्षेत्र धर्म के दर्शन आदि जो होते हैं ना मान शरीर का धर्म रूप से दिखाया है सूक्ष्म शरीर का धर्म रूप से त्रयोदश सत्या में दिखाया हुआ है ये क्लेशादि जो भी इच्छा आदि में आते हैं उसमें शरीर का धर्म रूप से दिखाया है काय धर्म आत्मधर्म नहीं कहा तत्र क्षेत्राध्याय उत्तम हेतु करे क्षेत्राध्याय में कहा हुआ था मान त्रयोदश अध्याय क्षेत्राध्याय है क्षेत्र क्षेत्र का विभाग योग है ना वो तो क्षेत्राध्याय में कहा हुआ है वो हेतु बनाते हैं इच्छादि नाम ये कहा था इच्छादि नाम क्षेत्र धर्म दर्शन इच्छादि जो है क्षेत्र के धर्म रूप से दिखाया है आत्मधर्म नहीं दिखाया वहां टीका में कहते हैं स्वात्मनि सांख्यादि नाम क्लेशादि अप्रत्युत फलित वहां स्वात्मनि सांख्यादि नाम जो सांख्यादि है उनमें क्लेशादि अप्रत्युत ज्ञानियों के क्लेशादि नहीं होते हैं आत्मा में एक अप्रतीत होने पर फलित क्या हो अतः इत्यादि अतस्ते न काय क्लेश दुख भयात कर्म परिदेश उनमें दुख ही नहीं है तो शरीर आदि के कष्ट से होने वाले दुख को अपने में भय है ही नहीं उनमें शरीर आदि से अपने को पृथक करके बैठे हैं इसलिए वो कर्म त्यागने का अधिकारी नहीं है जिनमें कर्म प्राप्त हो तो उनको त्यागा जाए ना उनमें प्राप्त ही नहीं है ठीक है मैं कहते हैं ननो तेसाम क्लेशादि आदर्शन विधि सांख्यारम तेसाम सांख्यानम सांख्या है ज्ञानी है आत्मवत्ता लोग हैं उन्हें क्लेशादि न दिखने पर भी स्वात्मनि कर्माणी पश्चाताम अपने में कर्म देखते हैं स्वयं आत्मा में कहा देखते हैं मैं करने वाला हूं पश्चाताम तत्यागो युक्त तो उनका त्याग युक्त है तेसाम काय क्लेशादि करत्वात उनको जो अपने में देखते हो कर्म तो वहां तो त्यागना संभव है तो कहते हैं नापी कहा हुआ है थे तो कर्माणी आत्मनि पश्यंती ये लोग अपने में कर्म देखते ही नहीं कर्म देखते नहीं अपने सांख्य लोग मान ज्ञानी है जो ये नियतम कर्म बहुत तेज जो नित्य कर्म है ना उपमोह के कारण त्याग है यदि कर्म होता अपने को तो त्याग दे संभव भी नहीं है ठीक है हमें कहते हैं अज्ञान मोह महात्म्यात नियतम अभी कर्म त्यक तुम सक्यम अज्ञानी जो होते हैं मोह के अभिवेक के कारण से मोह हमारा अभिवेक के कारण से मोह के महात्म से अभिवेक के महात्म से नियतम अभी कर्म त्याग तुम सक्यम अज्ञानी के द्वारा तो त्यागा जा सकता है नित्य कर्म भी त्यागा जा सकता है अभिवेक के कारण न तत्वविदाम जो तत्ववेत्ता होते हैं आत्मवेत्ता होते हैं वहां नहीं नहीं कर्म आदर्शन आत्मा में कर्म दिखता ही ना उनको शरीर आज में देख रहे हैं कर्म अदर्शन है ना त्याग हेतु भगवान फिर वो कर्म त्याग अपने में होता तो त्याग दे हेतु ही नहीं है आत्मा यदि कर्म होता तो त्याग दे कर्म है ही नहीं क्या त्यागना उन्होंने वहां त्यागना संभव है जो अपने में कर्मादि मानने वाले हैं उनके त्याग अत्याग के बारे में विचार है यहाँ ये दो श्लोकों में यही कहना है मोहाद इत्यादि कहा मोहात परिचय जीव का मोह से नापित इत्यादि मोह से यदि त्याग सके ऐसा हेतु नहीं है क्यों अपने में कर्म दिखता ही ना उनको यदि कर्म में त्याग होता तो त्यागते में कर्म ही ठीक है हम कहते हैं कथम तेर तेसाम आत्मनि कर्म अपश्यता प्रति प्रति अभाव प्राप्ति अभाव है तत्याग संन्यास है तथा फिर ये संन्यास क्यों बोलते हैं सन्यासी क्यों बोलते हैं जो शरीर से पृथक हो जाए फिर सन्यास कैसे होगा उनका कथम तरी तेसाम है जो सांख्यानम जो सांख्य है आत्मवित्ता है उनका आत्मनि कर्मणि अपश्य नाम आत्मा में कर्म जब देखते नहीं कोई शरीर आदि में दिख रहा उनको कर्म प्राप्ति अभावी जब प्राप्ति नहीं कर्म वहां फिर उसका त्याग कैसे होगा संन्यास कैसे होगा कर्म का संन्यास कैसे होगा उनमें सांख्याओं में ज्ञानियों में कैसे संन्यास होगा उनका तथा उत्तर देते अरे गुणानाम कर्म वो समझते हैं गुणों का कर्म है किसका है सदगुण रजगुण तमुण में कर्म होते हैं सात्विक राजस्थान स्वभाव के कर्म तीन प्रकार के कर्म गुणाराम कर्म ये गुणों का है नहीं वकिंचित करो भी तो यही संन्यास है उनका तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसे मान करके बैठ जाना गुणों में कर्म होता है मेरे में कोई कर्म नहीं यही संन्यास है उनका होकर के त्यागना नहीं ये समझना केवल मेरे में कर्म नहीं है यही समझना ही संन्यास है उनका ठीक है नहीं वकिंचित मान संन्यास मैंने त्याग त्यागने के लिए चाहिए है ही नहीं केवल मानते कि गुणों का कर्म मेरे नहीं है मैं तो कुछ करने वाला नहीं ये समझते वो यही संन्यास है उनका कहा नहीं वो किसी करो मिति ही ते ये यही संन्यास मेरे में नहीं है यही संन्यास होता हूं उनके क्या है यही दृष्टि बनती है मेरे में नहीं है ये यही संन्यास है उनका होकर के त्यागना नहीं है इसीलिए कहा सर्वकारण मनसा संन्यास शास्त्र सुखम बसी नवद्वारे पूरे रही नव्य कुरबंध कारण पंचमध्य बोल के आए थे इत्यादि भी ही हम्म। तत्वविदा संन्यास प्रकार है सन्यासी तत्ववेत्ता का सन्यास का प्रकार तो यही बताए क्या नहीं वो केंद्रित करो मिति युतो मन तत्वविद्यादि सर्वकर्माणी संन्यास मनसा संन्यास इत्यादि यही है उनका संन्यास तो इस प्रकार होता है कर्म करके त्याग नहीं कर्म है ही नहीं समझते अपने में यही कहा टीका में कहते हैं अविवेक प्राप्तान कर्म जो कर्म अज्ञान से प्राप्त होता है शरीर आदि में आत्मबुद्धि के कारण कर्म शरीर आदि के कर्म अपने मार्ग करता है अविवेक के कारण अपना विवेक होता मैं पृथक हूं शरीर से एकान होता तो कर्म की प्राप्ति नहीं थी अविवेक के द्वारा प्राप्त है कर्म आत्मा में जो कर्म की प्राप्ति है अपना विवेक नहीं है शरीर से पृथक नहीं कर पाए इसलिए शरीर के कर्म को अपने में आरोप करता है अविवेक प्राप्त हम कर्म अज्ञान से जो प्राप्त कर्म है अपना स्वरूप का ज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान होने से शरीर का कर्म आरोप कर रहा है शरीर पर तादात्म करके बोल रहा है कर्मा त्याग उस कर्म का त्याग तत्व विधान उत्तम अविवेक से प्राप्त कर्म था कैसा उसका त्याग इसको कहा दैव केंद्रित करो मिति के द्वारा तत्ववेता ऐसा त्याग करता है इतमार स्मार ऐसा स्मरण कराते हुए अप्राप्त प्रतिषेधम प्रत्यादेश अप्राप्त के प्रतिषेध नहीं है प्राप्त है अभिवेक के द्वारा कर्म प्राप्त था कैसा था अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का पहचान न होने से प्राप्त था उसको त्यागना है मन मन में आया मन में ही था मन में त्यागना संभव ये कहा हुआ है आगे अब ये चार श्लोकों का दो श्लोकों का तात्पर्य किसमें घटेगा फिर प्रश्न है तत्वविदाम अत्र अभिचारियत्व फलित महा तत्वविद्ता का विचार नहीं है आत्मविद्ता का विचार नहीं है ये दो श्लोकों के द्वारा माने काम्या नाम कर्मान्यासम संन्यासम को विदोष काम्य कर्म का त्याग को संन्यास कहा गया किन के लिए कहा गया गृहस्थाश्रम है अभी शरीर आदमी आत्मबुद्धि करके बैठे हैं वो काम कर्म को त्यागते हैं तो उसको एक प्रकार के सन्यासी हो गया मानते हैं और दूसरा काम्यानम कर्मान्यासम संन्यासम कपय विधो सर्वकर्म होने जाकर नित्य निमित्त कर्म के फल को त्याग कर देते हैं इसको कहते हैं त्याग पराम त्याग विचक्षणा कहा हुआ है और कुछ लोग कहते हैं जब तो सीते के नहीं नहीं कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए चाहे नित्य निमित्त कोई भी हो सब बंधन के कारण है ऐसा मानते हैं कुछ लोग कहते हैं एक दान को करना चाहिए मैंने शरीर में आत्मबुद्धि है अधिकारी हैं कर्म के अधिकारी उनको लेकर के विचार किया गया यहां ये कहना है एक तत्वविदाम अत्र अभिचारी होते ये अत्र मान इस मैंने उपसंहार प्रकरण में सारे गीता का अर्थ का उपसंहार हो रहा है अष्टादश अध्याय में इस उपसंहार प्रकरण में तत्ववेत्ताओं का विचार नहीं है केवल कर्मवेत्ताओं का विचार है फलितवा तस्माद इत्यादि तस्माद यह अन्य अधिकृता जो तत्ववेत्ता से भिन्न अधिकारी लोग हैं कर्म में अधिकारी कौन से कर्म में अधिकारी हैं परिग्रहता आदि में बैठे हैं देहाभिमान से युक्त हैं कर्मणि अनात्म जो कर्म में जो अनात्मवेत्ता है ये शाम जो मोहत्याग संभव कहा कर्म होने में यह अन्य अधिकृता कर्मणि तेसा अधिकार बोलना है कर्मणि अनात्मविद आत्मवेत्ता नहीं है अधिकारी ने कहा कर्म में या अन्य अधिकृता कर्म नहीं जो अन्य लोग हैं मान तत्ववेत्ता से अतिरिक्त लोग हैं कर्म अधिकारी हैं आत्मवेत्ता नहीं है ये शाम तो बहुत यार समझ जहां वो का अव्यप का त्याग जहां हो पाएगा अभिवत का त्याग जहां हो पाएगा काय क्लेश भयाच काय क्लेश शरीर संबंधी क्लेश के भय से भी कर्म होता था भय से भी त्याग त्यागना संभव है जहां अभिवेक से त्यागना संभव है नहीं जानता अपना कर्म नहीं जानता त्याग त्याग हुआ होता है अथवा शरीर के कष्ट आदि के कारण से त्यागना संभव है तामस त्याग राजस त्याग होना संभव है तेव तामसा त्यागी हो राजस वही तामस त्यागी और राजस त्यागी जो है और के द्वारा जो कर्म को छोड़ देता हो वो है तामस त्यागी और शरीर के कष्ट से अपना कष्ट मान के कर्म त्यागता वो राजस त्यागी सात्विक त्यागी नहीं हो निंदन दे यही दो की निंदा होती है जो तामसी है त्यागी और राजसी त्यागी है दो की निंदा होती है यही निंदा की जाती है ये कहा हुआ है कर्मणाम अनात्मज्ञानाम जो अनात्मज्ञ है आत्मज्ञ नहीं है कर्मी है उनकी अनिंदा की जाती है ये दो श्लोकों में कर्म फल त्यागत त्यर्थम किसके लिए या उसकी निंदा कर रहे हैं जो कर्म को छोड़ देते हैं जो लोग अब वेद के कारण छोड़ते हो अथवा शरीर के कष्ट के बारे कष्ट होगा करके कर्म छोड़ दे उनकी निंदा हो रही है किसके लिए कर्मफल की स्तुति के लिए ये कहते हैं कर्मफल त्याग कर्मफल का जो त्याग है कर्म करता है नित्य निमित्त कर्म करता है फल नहीं जाता उसकी तुति परक है त्याग की तुति परक है कर्मफल की त्याग की तुति पर जो कर्म के फल चाहने वाले की तो निंदा है हाँ, तो काम में कर्म को त्याग देता है और नित्य निमित्त कर्म करता है तो कर्मफल की स्तुति के लिए ये प्रशंका के लिए श्लोक है दोनों श्लोक ये कहा सर्वार्व परित्यागी मौनी संतुष्टो यह निकेत अनिकेत स्थिरमति यदि गुणातीत लक्षण चाह माने द्वादश अध्याय चतुर्दश अध्याय में जो सांख्य में बैठे हुए लोग हैं आत्मविद्ता हैं उनके लिए ऐसा कहा हुआ है अद्वेष्टा सर्वभूतान आदि से लेकर के द्वादश अध्याय में कहा था सर्वारोह परित्यागी कहा सारे कर्म का परित्याग कर कोई कर्म नहीं करता सांख्य के लिए ऐसा बोला मुख्य सन्यासी है जो आत्मवत्ता है मौनी का मौन रहता है संतुष्ट हो यह नहीं कहा था जो कुछ प्राप्त हो प्रारूध अनुसार उसे संतुष्टि है ऐसा कहा था अनिकेता तिरुपति कहा था भक्तिमान में प्रियो न इत्यादि कहा हुआ है कोई अपने लिए कुछ बनाता नहीं है थिर बुद्धि वाला है यदि ये द्वादश अध्याय में कहा और गुणातीत लक्षण गुणातीत लक्षण कहा है चतुर्दश अध्याय उदासीन पदासीन गुण विचाल इत्यादि अच्छा। परमार्थ सन्यासी मतलब वास्तविक सन्यासी है कर्म त्याग के द्वारा सन्यासी नहीं काम्य कर्म को त्याग से सन्यासी तो प्रशंसा के लिए काम्य कर्म को त्याग दिया देखो ऐसे प्रशंसा के पर बात है किंतु मुख्य जो सन्यासी होगा उसका तो द्वादश अध्याय चतुर्दश अध्याय चर्चा हुई है जिंदगी विशेष सत्वाद ऐसे ऐसे विशेषण किया था क्या विशेषण लगाया क्या इत्यादि करके कहा हुआ है विशेषण से युक्त किया हुआ है सर्वार्भ आरभ कर्म होते हैं सब कर्म त्याग के बैठा हुआ होगा ऐसी स्थिति है बक्षती से आदि भगवान कहेंगे ज्ञान निष्ठा ज्ञान से आप परा कहेंगे सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्मा तथा अपनौती निबोध हमें समाज से नहीं पहुंचते या निष्ठा ज्ञान से अपरा इसी अध्याय में आगे बताएंगे भगवान ये सिद्धि प्राप्त हो गया ज्ञान प्राप्त हो गया यथा ब्रह्म आपनौती तथा आपनोती जिस प्रकार ब्रह्म प्राप्त करेगा मैं बताता हूं संक्षेप में बताऊंगा विस्तार से नहीं जो ज्ञान की पराकाष्ठा है परम निष्ठा है बताऊंगा ये बताएंगे मुख्य सन्यासी पति कहेंगे बक्षित से भगवान भगवान कहेंगे आगे ज्ञान से या परानिष्ठा थी ज्ञान की जो परानिष्ठा है ना उसको कहूंगा करके भगवान कहेंगे आगे सिद्धिम प्राप्त था ब्रह्म तथा प्रोति बोध में से इन्हें को कौनते निष्ठा ज्ञान से अपरा ऐसे श्लोक के द्वारा कहेंगे तस्मात ज्ञान निष्ठा सन्यासी रो न ये व्यवस्था जो ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सन्यासी हैं देहाभिमान से ऊपर की स्थिति में जो बैठे हैं उनके यहां विचार नहीं है सिद्धांत ये बोलते हैं ये दो सौ लोगों में विचार उनका नहीं है जो अभी कर्म में अधिकारी है उन्हीं के लिए विचार है कैसे अधिकारी की प्रशंसा जो शरीर आदि के भय से छुपने वाले की निंदा और कर्म कर रहा है नित्य नवित्य कर्म कर रहा फलाशा से रहित होकर काम में कर्म छोड़ दिया है उसकी प्रशंसा के लिए फल कर्म फल त्याग एवं सात्विकत्व गुणेना तामस तत्वादि अपेक्षा संन्यास रहे देखो वो सात्विक भाव में है काम में कर्म नहीं करता और नित्य निमित्त कर्म कर रहा फल त्याग हुआ उसका भी इसलिए वो सात्विक कर्म होता है कैसा होता है सात्विक कर्म होता है कर्म फल त्याग एवं सात्विक है ना कर्म फल का त्याग सात्विक होता है कर्म कर रहा है वर्णाश्रम भी धर्म कर्म कर रहा है फल की आशा छोड़ के कर रहा है गुण वो सात्विक त्याग कहलाता है ये सात्विक गुण के द्वारा तामसत्व जब दो और हैं जो राजस तामस कर्म करने वाले मान नित्य कर्म को छोड़ देता है कोई अविवेक के द्वारा अपने जो नित्य कर्म उसको छोड़ देता है वो तामस त्याग है और शरीर आदि को कष्ट होकर करके जो कर्म छोड़ देता हो वो राजस त्याग है उनकी निंदा है और कर्म कर रहा है फल की आशा छोड़ के कर रहा है नित्य निमित्त कर्म उसकी प्रशंसा के लिए वाक्य है ये कहना है कर्मफल त्याग है वो सात्विकत्व गुणेना तामसोत्तवादी अपेक्षा जो तामस राजस है कर्म है उनकी अपेक्षा संन्यास उच्चित उसका नाम यहां संन्यास का दिया है संन्यास शब्द का तो वही है यहां न मुख्य मुख्य संन्यास को संन्यास नहीं कहा जो ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए संन्यास है शरीर भाव से ऊपर की स्थिति में जो होगा वो संन्यास की चर्चा यहां नहीं है सर्वकर्म संन्यास सर्व कैसा है मुख्य सर्वकर्म संन्यास वाला यहां नहीं है वो तो कोई भी नहीं कर्म करता ये तो कुछ कर्म कर रहा है सात्विक कर्म कर रहा है राजस तामस कर्म को छोड़ दिया वो जो राजस कर्म तामस कर्म करने वाले की निंदा है और सात्विक कर्म करने वाले प्रशंसा है सर्वकर्म संन्यास वाले की चर्चा नहीं है सर्वकर्म संन्यास असंभव है सारे कर्म का असंभव है जब तक शरीर में बैठा है कब तक शरीर की स्थिति से ऊपर की स्थिति में तो कर्म नहीं होगा जब तक शरीर की स्थिति में है तब तक कोई ना कोई कर्म करता रहेगा यही बोलना है सर्वकर्म संन्यास असंभव मैंने देहाभिमान से युक्त है और सारे कर्म का होने में असंभव है हेतु बता दें असंभव है कोई कर्म छोड़ी नहीं सकता हाँ। नहीं देह वृता सत्यम त्यक्तों कर्मान्य से सता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी तो बीती पहले बोल के आए नहीं नहीं देह व्रता हेतु वचनाथ मुख्य एवं पूर्वादि बोलता महाराज संपूर्ण कर्म का त्याग तो किसी का भी नहीं हो सकता क्यों नहीं देह व्रता सक्यम तुम कर्मान शेष भगवान के वाक्य में आया शरीरधारी है शरीर में हम बुद्धि करके बैठा है तो उसके सारे कर्म त्याग होना संभव नहीं है किंतु यस्तु कर्म फल त्याग कर्म का फल त्याग जाता है सत्यागी तो विधि है तो उसको त्याग कहा जाता है कहा रहा है पहले तो वो जो ज्ञानी है वो भी तो शरीरधारी है ना अभी जीवन मुक्ति अवस्था में पड़ा हुआ है तो उसको भी कुछ कर्म तो करना ही होगा कि ये वाक्य सारे कर्म के अभाव में वाक्य आगे आ जाता है नहीं देह प्रताप सक्यम तक तुम कर्मा श्रेष्ठ सारे कर्म देहाभिमान युक्त के द्वारा त्यागना संभव नहीं है भगवान कह रहे हैं तो कैसे सारे कर्मों से ऊपर हुआ वो कुछ कर्म तो है उसके पास तो उनका भी विचार होगा उसके लिए कौन कर्म है ये पूर्वाजी का कहना है एवं मुख्य एवं ये जो कहा गया मुख्य त्याग है या मुख्य संन्यास है कौन सा त्याग संन्यास हाँ। माने आत्मव्यता को भी नित्य कर्म करना चाहिए फला दिशा मिलासा रहित होकर के काम्य कर्म त्याग देना है वो तो संन्यास है और नित्य आदि नित्य निवृत्ति करना है यही है मुख्य संन्यास के विषय में है सन्यासी के लिए कर्म करने को कहा नित्य कर्म करना चाहिए नित्य निवृत्ति करना फला मिलासा रहित होकर ये सिद्ध होता है पूर्वादि कहा तो सिद्धांत ना मुख्य संन्यास के लिए नहीं ये बात हेतु मत तुत्यर्थ तो ये हेतु कहा ना क्या नहीं देह भ्रता सक्यम त्यक्तुम कर पाने से सदा कहा हुआ है हेतु है ये क्या प्रशंसा के लिए है प्रशंसा परक वाक्य है एक भगवान यथा त्यागा शांति अंतरम द्वादश अध्याय में आया है किसके लिए वो क्या अर्थवाद वाक्य है सबसे पहले था मये व मन आधस्व वहां से आरंभ होता मेरे में मन को रखो मई बुद्धि में निवेश है मेरी भी बुद्धि रखो निवेश से मये व यदि मन बुद्धि मेरे में अर्पित करोगे तो मेरे में रहोगे उसमें यदि असक्त हो यदि मन समाधा तो सके से इत्यादि अभ्यास योग करो बोला है उसका अभ्यास करो नीचे नीचे उतरेगा आए अंत में त्यागा शांति रंतरम कहा है त्याग के अनंतर शांति होती है बोला तो क्या है अर्थवाद वाक्य है माने ये ये कर्म नहीं कर सकते हो तो ये अच्छा है तुम्हारे लिए अर्थवाद है ठीक इसी प्रकार नहीं देव बता सके मुझे अर्थवाद वाक्य है ये कहना है इति कर्मफल त्याग तुरे जैसे प्रकार ये कर्मफल की तुति की त्याग की तुति के लिए है ये भी जैसे त्यागा चांदेर अनंतरम मतलब कर्मफल की स्तुति के लिए है किसके लिए ठीक इस प्रकार ये दो श्लोक है काम्यानम न्यासम संन्यासम कर्म विदु सर्व कर्मफल त्याग प्राहुष त्यागम विचक्षणा इत्यादि जो कहा यह भी कर्मफल की प्रशंसा के लिए है मैंने कर्मी कर्मी होते हुए कर्मफल को त्याग करके कर्म करता हो तो प्रशंसा है इसके लिए यथोक्त अनेक पक्ष अनुसार अशक्त द्वादश अध्याय में जो बये व मना आदर्श होकर अनेक पक्ष रखा भगवान ने वहां अनेक पक्ष रख दिया उसमें जो अनुष्ठान कर्म असमर्थ हो गया है अथई तदप्त सप्तोषी मत कर तुम कर परमो भव इत्यादि आया यथोक्त तो अनेक पक्ष भगवान वहां पर मैं ये बपाना आदस्व से लेकर कई पक्ष कहा उसका अनुष्ठान में जो असक्त असामर्थ है अर्जुन उसके अज्ञानी है कर नहीं पा रहा है उसके विधान तम प्रति विधान आदि जो त्यागा चांदी अंतरम अंतिम में उसके लिए कहा पूर्वोक्त कर्म जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए कहा कम से कम ये करो तथा इदम अभी यहां भी नई देह वृता सक्यम वाक्य भी उसी प्रकार है माने यदि देहाभिमान है तो कर्म करो फल त्यागते हुए कर्म करो ये कहा हुआ है उसी प्रकार ये भी अर्थवाद वाक्य है ये कहा यदि कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम नई देह वृता सक्यम जो है ना कर्म फल के त्याग की स्तुति के लिए है ये न सर्वगवान मसा संन्यास नैगुण कारण आस्ते इसके लिए प्रसन्न ये वाक्य नहीं है नहीं दे तो बता सकम सारे कर्म को मन से त्याग के बैठा हुआ जो काया सर्वगवान मसा संन्यास आते सुगम पशु नव द्वारे पूरी रही नवगुण कारण आदि इस स्थिति में पहुंचे हुए लोगों के लिए नहीं दे तो बता सकम वाक्य नहीं है ये कहा इत्यस्य पक्ष सवाल उस पक्ष का भाग कोई भी नहीं कर सकता केनचित न सके इस पक्ष का बात कोई भी नहीं कर सकता कौन वो ज्ञानी की स्थिति तो दैव कृतित करो भी थी तो सर्वकरण मनसा संन्यासाथी सुकुम्बसी स्थिति में है वो तो इस पक्ष का अपवाद यहां कोई वाक्य नहीं कर सकता उसके लिए कर्म नहीं है कर्म तो जो कर्म में अधिकारी है यदि फल को त्याग करके कर्म कर रहा हो तो श्रेष्ठ है वो बाकी निंदित है तो फल चाहने वाले राजस वाले होंगे अविवेक के द्वारा कर्म त्यागता हो नित्य कर्म आदि को त्यागता हो अथवा शरीर आदि को कष्ट होकर करके त्याग देता हो उनकी दीनता के लिए है और ये कर्म कर्म करा फल को त्याग के कर्म कर होकर स्तुति के लिए है बात यह तस्मात कर्मणि अधिकृतान प्रति ऐसा ये विभाग के जो आया कर्म जो अधिकारी लोग हैं अभी शिखा सूत्र है गृहस्थाश्रम में बैठे हैं अधिकृतान अधिकारी है जो कर्म के उनके लिए ही है ये संन्यास त्याग विकल्प ये संन्यास और त्याग जो कहा ना काम्यान कर रहा में संन्यासों के जो संन्यास होने के लिए है काम्य कर्म को त्याग देते हैं तो बहुत अच्छे हैं लोग स्वर्ग आदि के उद्देश्य कर कर्म नहीं करते सर्वकर्म फल त्याग नित्य नैमित्तिक आदि कर्म कर तो फल त्याग कर देते हैं उसको त्याग कहा ये त्यागी है सन्यासी है ऐसा कहा गया उनकी प्रशंसा के लिए किन के लिए अर्थवाद वाक्य है ये विकल्प जो चार विकल्प दिखाया हमको उन्हीं के लिए ये तो परमात्मा दर्शन जो वास्तव में दर्शन में बैठे हुए लोग हैं शरीर आदि से ऊपर की स्थिति में है जो सांख्या जिनको सांख्य शब्द से कहा जाता है तेसाम उनका ज्ञान निष्ठा नाम ज्ञान में निष्ठा रख रहे हैं कर्म निष्ठा है ना उनमें ज्ञान निष्ठा नाम निष्ठा नाम उनके ज्ञान निष्ठा होने पर एवं ज्ञान निष्ठा में ही सर्वकर्म संन्यास लक्षणायाम अधिकार उनमें तो यही अधिकार है सारे कर्म का जहां संन्यास होगा कोई कर्म नहीं रहेगा उसमें उनका अधिकार होता है ज्ञान निष्ठा में अधिकार है उनका नान्यत्र कर्म निष्ठा में अधिकार नहीं उनका न ते विकल्प आ रहा यहां जो विकल्प किया गया वो ये नहीं है कौन जो सांख्य रूप में बैठे हुए सांख्य निष्ठा में ज्ञान निष्ठा में है वहां ये विकल्प कर्म कर सकते नहीं कर सकते काम्य कर्म त्याग क्या तो और सन्यासी कहा जाएगा और सभी कर्म करके फल त्याग देते हो तो त्यागी कहा जाए ये बात उनके लिए नहीं है ये तो कर्म में अधिकारी को लेकर के विचार किया गया तथा उपाधि समापी ये बातें हमने पहले कहा कहते हैं कहा वेदा विनाश निमित्तम ये कथम पुरुष पार्थ कम धात कम द्वितीय अध्याय में हमने बात बता दिया जो ज्ञान निष्ठा में बैठे हैं उनके लिए कर्माधिकार नहीं है जो कर्माधिकारी नहीं तो फिर ये कर्म होना भी नहीं होना विचार करने की आवश्यकता ही नहीं इसलिए उनके बारे में विचार नहीं ये विचार जो किया जा रहा है दो श्लोकों में कर्म के अधिकारी के लिए कैसा कर्म करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए इत्यादि अश्विन प्रदेश है तृतीया तो ये जो वेदा विनाशन मिलते तो हुए स्थान पर और तृतीय आदि अध्याय में भी हम स्थान स्थान पर कहा ज्ञान के लिए नहीं है तृतीय आदि तृतीय के आदि में कहा लोकेशमति निष्ठा पूरा प्रताप में आ रहेगा ज्ञान अनुसार ज्ञान उनको तो ज्ञान योग में निष्ठा वाले हैं वो कर्म योग है ही नहीं कहा सब हमने बोल दिया पहले ही वो विकल्प के के वहां नहीं ये कर्म के करना नहीं करना विकल्प उनमें नहीं लगेगा जो कर्म अधिकारी है उनको विचार किया गया ये कहा टीका होगा एड़ा ये अनात्मविदा जो आत्मवत्ता नहीं शरीर वत्ता है शरीर हम तो लेके बैठे हुए हैं उनके लिए विचार है विचार हाँ, जो काम्य कर्म का त्याग को संन्यास कहा और सभी कर्म का फल के त्याग को त्याग कहा इत्यादि बातें किसके लिए है जो अनात्मविद्ता है अनात्मविदा शरीरात्म आत्मबुद्धि वाला आत्मविद्ता नहीं है जो तेव तो उत्तरत्र संबंध है वही यहां पर आगे के साथ समझते एवं के साथ में इसी का अन्वय का ये आत्म ये अनात्म विदा है ना पहले ये अना हाँ। ये अनात्म विदा ते एव आगे ते एव आगे है जाकर वहां संबंध करना वही अधिकारी है ये विचार कर्म के विचार में कहा कर्म में जो अनात्मता है जो उन्हीं का यह विचार है कहना कर्मणी अधिकता नाम अनात्मविदाम कर्मजात संभावना दर्शाएगी कर्म में जो अधिकारी हैं अज्ञानी है देहात्म बुद्धि पर बैठे हैं अनात्मवेत्ता आत्मवेत्ता नहीं है उनका कर्मत्याग की संभावना दिखाते हैं कर्मत्याग होना संभव है वहां अज्ञानियों में यशाम इत्यादि कहा था भाष्य में कहा था ऐसा तो मोह त्याग संभव थे जो कर्म में अधिकारी लोग हैं अनात्मवेत्ता उनका मोह का त्याग हो सकता है माने अविवेक का पूर्वक जो त्याग होता था वो त्याग हो सकता है तन निंदा कुत्र उपयुक्ता कहते हैं माने तामस त्याग कहेंगे आगे इस त्याग को बोह के कारण से अविवेक के कारण से कर्म छोड़ देता हो अपना नित्य कर्म छोड़ देता हो तामस त्याग कहा हुआ है कहां उपयोगी होगा त्याग निंदा है ये निंदा माने अज्ञानी की निंदा कर्म करना चाहिए था नहीं कर रहा नित्य कर्म नहीं कर रहा था अविवेक के कारण मोह के कारण तो उसकी निंदा ये निंदा कहा उपयोग होगा कहा कर्मिणाम कर्म में होगा ये कहा हुआ है कर्मिणाम अनात्मा ज्ञानम फल कर्म फल त्याग तीर्थम इसकी निंदा दूसरे की प्रशंसा हो जाती है ये कर्म नहीं करता वो कर्म करता वो फल त्याग रहा है उसकी प्रशंसा भी है किंच परमार्थ सन्यासी नाम जो वास्तविक सन्यासी हैं शरीर भाव से ऊपर की स्थिति में जिनकी स्थिति है आत्मव्यता है जो प्रशस्त तो तो, प्रशंसनीय उपलब्धि होती है उनके तो प्रशंसनीय होते हो तो न निंदा विषय तो उनकी निंदा नहीं होती कर्म छोड़ने से तो शरीर शरीर बुद्धि में होकर के कर्म छोड़े तभी निंदित होगा वो तो शरीर बाप से ऊपर है सर्व इत्यादि सबसे से कहा था सर्वारंभ परित्यागी का वो स्थिति में द्वादश अध्याय पता हुआ था सारे कर्म मात्र को छोड़ के बैठे हैं वो सर्वारूप परित्यागी मौनी कहा था संतुष्ट यानी कहा था अनिकेता स्थिरमतिर इत्यादि कहा था इति ये तो द्वादश अध्याय की बात थी ज्ञान के बारे में शरीर से ऊपर की स्थिति में जो थे और चतुर्दश अध्याय गुणाते लक्षण बताया है उदासीन उदासीन गुण विचालित इत्यादि कहा हुआ है किंच अत्रापि यहां भी ये जो दो श्लोकों में अभी यहां वर्तमान में हमारे पास दो श्लोक पड़े हैं काम्यानम कर्मण्या समाधि अत्रापि सिद्धिम प्राप्त यथा इत्यादि का ज्ञान निष्ठा आया वक्षवाणत्वार्थ यहां भी इसे अध्याय में भी अत्रापि इसे अध्याय में <clears throat> सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा प्रोतिर्बोध हमें समाज से नहीं बकनते या निष्ठा ज्ञान से पूरा जिससे सिद्ध प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो चुका है सिद्धि माने ज्ञान है वह प्राप्त होने पर जिस प्रकार ब्रह्म प्राप्त करेगा वो सिद्धि प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ब्रह्म की प्राप्ति करता है मैं संक्षेप में बताऊंगा सुनो भगवान ऐसे बोलते हैं यहां भी कहा हुआ है इत्यादि ना ज्ञान निष्ठा या पक्षपाणत्व ज्ञान निष्ठा यहां कहने वाले हैं भगवान तद्वत्ताम तद्वताम मैंने ज्ञान निष्ठा बताओ जो ज्ञान निष्ठा वाले लोग हैं ना यह विचार्य थे उनका यह कर्म का आने के विषय विचार नहीं उनका ये दो श्लोक अभी चल रहा है इसमें विचार नहीं उनका बक्षती से इत्यादि से उसने कहा था बक्षती से ज्ञान से या परा निष्ठा निष्ठा ज्ञान से अपरा शब्द से बोलेंगे मैं कहूंगा करके भगवान कहीं जा रहे कर्माधिकृत नाम एवं अत्र विवक्ष तत्व न जाने कर्म के अधिकारी कर्म जो अधिकारी थे वही आज दोषों के विचार उनका ही है वो कैसा कर्म करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए काम में कर्म को त्याग देना चाहिए और नित्य निवृत्ति कर्म फल त्याग करके कर्म करना चाहिए वो अंधकर्म आदि की शुद्धि के साधन आगे जाकर के मोक्ष के साधन बन जाते हैं ये कहना है उसमें शत्रु रूप से ला करके पर एक थोड़ा निघर न्याय होता है जितना फूट को फूटे को माने पानी डाल डाल के ठोकते हैं तो उतना मजबूत होता है इस प्रकार पूर्व पक्ष दिखा करके अपने पक्ष को मजबूत करता है इसलिए पूर्व पक्ष दिखाया क्या त्याज्यम दस वदित्य के कर्म मैंने मनुष्य पूर्व पक्ष दिखाया कुछ लोग कहते हैं सारे कर्म त्याग देना चाहिए चाहे काम में हो चाहे निष्काम हो सब त्याग देना चाहिए दोष वाले हैं कर्म किंतु तो नए अपने पक्ष से लाया गया यज्ञदान तप कर्म त्याज बचना पड़े यज्ञदान तप कर्म को तो नहीं त्यागना चाहिए निष्काम भाव से जो यज्ञदान तप करना चाहिए इत्यादि कहा तो कर्म अधिकता में अत्र विवक्षित न ज्ञान निष्ठा तस्माद इत्यादि शब्द कहा था तस्माद सब तस्माद ज्ञान निष्ठा सन्यासी न न है विवक्षिता ज्ञान निष्ठा ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सन्यासी का यह विचार नहीं है अविवक्षिता ठीक है मैं ननु संन्यास शब्द है ना सर्वकर्म संन्यास ग्राह्यत्वा संन्यास शब्द सारे कर्म का त्याग है फिर ये यज्ञदान तब कैसे रखने को बोला है यज्ञदान तो अकर्म त्याग संन्यास शब्द है ना संन्यास शब्द का अर्थ होता है सारे कर्म का त्याग सर्वकर्म संन्यास विवक्षित ग्रहणम ग्राह्यत्वा तथा भी तो सन्यासी नाम सारे कर्म को त्याग दिया जिन सन्यासी ने जो आत्मभाव में पहुंचे हुए हैं यह विवक्षित प्रतिभाती संन्यास शब्द तो सबको त्यागने सारे कर्म उन्होंने सबको सबको त्यागा हुआ है उनको भी नित्य निमित्त कर्म करना चाहिए यही सिद्ध हो रहा है ये दो श्लोक के विचार करने पर मुख्य सन्यासी को कर्म करना चाहिए एक यज्ञदान तब कर्म करना चाहिए ये सिद्ध हो रहा है ये प्रतीति होती है तब तो उसके उत्तर में सिद्धांत का कर्म फल त्याग एव त्यागे व सात्विकत्व गुणे ना तामसत्वादी अवक्षा संन्यास हो चलेगा कर्म फल के त्याग कोई संन्यास कहा हुआ है सात्विक आदि गुण है क्यों सात्विक गुण है वहां सात्विकत्व गुण है सात्विक गुण है उसमें होने के कारण से तामस आदि तामस राजस है ना दो कर्मत्या उसके अपेक्षा संन्यास कहा जाता है कर्म फल के त्याग के ही संन्यास कहा हुआ है कर्म कर रहा है संन्यास शब्द है ना मुख्य से संन्यास से ग्रहणम पूर्वादि बोलता है वो संन्यास आया है ना यहां काम्यानम कर्म न्यासम संन्यास पवित्र संन्यास शब्द करता सारे कर्म के त्याग मुख्य सन्यासी है ये संन्यास शब्द ना मुख्य से भी संन्यास ग्रहण मुख्य संन्यास का ही ग्रहण होगा क्यों गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय इसे व्याकरण एक परिभाषा है या गौण कार्य होगा मुख्य कार्य होगा तो कौन सा कार्य बलवान होगा मुख्य कार्य बलवान होगा तो संन्यास शब्द फल को त्याग करके कर्म को भी संन्यास कहा हुआ है और सभी कर्म त्याग अभी संन्यास मुख्य संन्यास सभी कर्म त्यागने में है तो ये दो श्लोक तो मुख्य सन्यासी के लिए है ऐसा लगता है काम कर्म को त्याग करके उसको सन्यास के बाद नित्य नैवित्य कर्म एक दान कर्म करना चाहिए सिद्ध तो होता है क्यों गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय ऐसा मैंने गौण एक कार्य गौण हो एक मुख्य कार्य हो पूरे मुख्य कार्य बलवान हो जाता है उसी का निश्चय होगा यही करना है तो यहां भी मुख्य सन्यासी तो सर्व कर्म सन्यासी है उसको यह कर्म करना चाहिए काम कर्म को छोड़ करके नित्य निवृत्ति कर्म फल त्याग के द्वारा करना चाहिए इस प्रतिभा यही होता है अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे मुख्य सन्यास को नहीं माने तद असंभव है मुख्य सन्यास असंभव है हेतु उक्ति वही अर्थात हेतु जो कथन किया हुआ है ना व्यर्थ हो जाता प्राप्त अप्राप्त प्रतिषेधात अप्राप्त प्रतिषेध होगा हाँ। ये पूर्वादि बोलता समझा सर्व इत्यादि सर्व विशेषण लगाया हुआ ना सर्वकर्म संन्यास कहा हुआ है सर्वकर्म संन्यास असंभव सारे कर्म के कोई संन्यास का असंभव होने पर एक हेतु है कोई मारे सारे कर्म छोड़कर कोई बैठ नहीं सकता हेतु है क्या हेतु है नहीं देह पिता सक्यम तक तुम कर्मान्य से सतह यश तो कर्म फल त्यागी सत्यागी तो भीति ऐसा कहा हुआ है सारे के सारे देहदारी जितने भी होंगे अभी जीवित अवस्था में होंगे सारे कर्म त्याग करके बैठना संभव नहीं है तो जो कर्म का फल का त्याग था वही त्यागी माना जाता है ये कहा हुआ है यही तो कथन व्यर्थ हो जाएगा चाहे कर्म तो त्यागता हो यदि तो त्याग ही नहीं सकता नहीं आड़े पड़ेगा सर्वकर्म इत्यादि जो कहा नहीं देवृता सत्य इत्यादि वाक्य हेतु है ये कोई भी त्याग नहीं जाए सारे कर्म त्याग में नहीं इन कर्मों को करेगा वह सन्यासी कौन कर्म यज्ञ दान तब करेगा नित्य नैविधि कर्म करेगा कामयादि कर्म छोड़ देगा मुख्य सन्यासी में होगा ये बात ये दोनों श्लोक कहा पूर्वादि कहा सर्व इत्यादि कहा था ठीक है नेदम यदुवचनम सर्वकर्म संन्यास असंभव साधकम सारे कर्म का संन्यास नहीं होता ऐसा करके सिद्ध करने वाला हेतु वचन नहीं है कौन ये नहीं देह बता सके वाक्य ये हेतु कथन करने वाला नहीं है कर्म फल त्याग स्तुति पर तो अजय वाक्य तो कर्म के फल की त्याग पर है स्तुति है क्या कर्म फल की त्याग स्तुति पर वाक्य है ये कर्म फल त्याग इत्यादि कहा नहीं देह वृता सक्यम तो, तो कर्मा यस्तु तो कर्म फल त्यागी सत्यागी निमित्त जो कर्मफल को त्याग देता है वही त्यागी करके उस कर्मफल की त्याग के स्तुति के लिए वाक्य है वाक्य कौन ये जो नहीं देह वृता सक्यम वाक्य न इत्यादि सिद्धांत बोला था न हेतु वचन शिष्ट उत्तर्थत्वात यही है जो नहीं देह सक्यम त्यक्तुम कर्मा निशेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधेयत हेतु कहा मैंने फल त्याग की प्रशंसा के लिए कहा उसी के लिए है वाक्य हेतु वचन से तुत्यर्थत्वात फल त्याग की कोई प्रशंसा करना है इसके लिए कहा ये तदेव दृष्टांत इसी बात को दृष्टांत देते हैं जैसे द्वादश अध्याय में आकर भगवान ने कहा त्यागा शांति निरंतरम त्याग से अनंत पश्चात शांति होती है कहा माने पहले वाले कठिन कठिन वाले थे मैं अभी देहाभिमान है कर नहीं पाया अंतिम आकर के अर्जुन के कहा त्याग से भी शांति होती है हाँ, कर्म होने की त्याग के प्रशंसा के लिए वाक्य वैसे ही वाक्य हुई दही देव प्रकाशन का वाक्य वैसे ही है कहा दृष्टांत भी दृष्टांत दिया है यही है दृष्टांत त्यागा शांति निरंतरम को दृष्टांत दिया हुआ है यथा श्रुतार्थ तुम जो जैसे सुनाई पड़ा है सर्वकर्म सन्यासी है नई देह प्रता सक्यम त्यक्तुम कर्म इसी के लेकर के दृष्टांत क्यों नहीं माना जाए सारे कर्म त्यागना संभव नहीं है काम्यादि कर्म छोड़ देना चाहिए सन्यासी को भी और नित्य निवृत्ति कर्म करना चाहिए फल त्याग के द्वारा यही क्यों नहीं लिया जाए इस का पूर्वादि के आगे यथोक्त तो यथोक्त इत्यादि कहा यथोक्त ना यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान असंभव वो द्वादश अध्याय में जो त्यागात शांति निरंतर कहा ना पूर्व में अनेक पक्ष रखा है भगवान ने मई एवं मन आदस्व मई बुद्धि निवेश निवेश से मई एव अतोर्तम न संशय अत चित्तम समाधा तुम न सकुन से वही स्थिर अभ्यास वगैरह तो दो भी स्थापम धनंजय अथ ही तथा प्रसक्त हो सी मतकर्मा परमो भव मदर्थम मत कर्माणी सिद्धिम कुर्बन सिद्धिम अभाव इत्यादि अथ अथ अतः अभ्यास क्या है मत कर्म करो हो इत्यादि का हाँ। तो करते करते कई सीढ़ी उतर उतर करके अंतिम में बड़ा त्याग शांति रन जैसा ठीक है इस प्रकार है कहा अनेक पक्ष रखने के बाद में अंतिम में जाकर के मुख्य पक्ष पहले रखते गए रखते गए अंत में ये सब नहीं कर सकते ये करो ये नहीं कर सकते ये करो कम से कम कर्म करो फल त्याग दो त्याग शांति रन करो ये कहा इसी प्रकार के यहां भी है ठीक है बाकी है समय हो गया ये रह करके ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति